और चौपाए उसी ने पैदा किए जिनमें तुम्हारे लिए सर्दी से बचाव का सामान है और इसके अलावा भी बहुत से फायदे हैं और उन्हीं में से तुम खाते भी हो